ये श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का विदेश विभाग है आपका पुराना साथी रेडियो सिलोंग पूछेंगे कि ये शहनाई क्यों बज रही है गीतमाला की छाओ की शुरू में तो वही सुनिए पिछले वॉल्यूम में मेरी शादी से जुड़ी हुई एक खास बात मैं आपको बताना भूल ही गया था और वो ये कि जब मैं उन्नीस में रमा से शादी करके उसे हनीमून पर ऊटी ले गया तो मेरी पहली प्रेमिका मुझसे बहुत सख्त नाराज हो गई थी हाँ जी आ, क्या कहा आपने पहली प्रेमिका यानी कौन अभी अब, अभी बताता हूँ आपको उसका नाम मगर बनोर भाइयों पहले सुनिए कि जब मैं रमा के साथ हनीमून के लिए रवाना हुआ तो मेरी वो पहली महबूबा मेरी बड़ी शिकायतें करने लगी इस तरह जा, जा रे जा। राजा का मेरी शादी पर और उस महबूबा का नाम क्या था <laughs> यही अपनी गीतमाला हाँ। क्योंकि भाई जब से उन्नीस में गीतमाला मेरे जीवन में आई थी ना एक भी गीतमाला मेरे बगैर नहीं बजी थी मैं कहीं भी जाता अपनी गीतमाला की रिकॉर्डिंग करके जाता और हफ्ते भर में वापस लौट आता मगर शादी हुई और फिर हनीमून तो मुझे एक हफ्ते के लिए गीत माला का प्रोग्राम छोड़ देना पड़ा खैर इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ आगे चलकर पहले ये सुनिए कि ये प्रेमिका की शिकायत का लाजवाब गाना जा जा रे जा साजना ये उन्नीस की छाव में छुप गया था और आज सामने आ गया देखिए और अब शुरू हो रही हैं झलके उन्नीस की सालाना यानी वार्षिक संगीत सीढ़ी के टॉप 16 हिट गीतों की एवं कठपुतली का ये मयूर यानी मोर नाच कर खबर दे रहा है कि उन्नीस के आते आते रेडियो की दुनिया में एक नया तहलका मच गया था आपको याद होगा जब भारत की अपनी महान ब्रॉडकास्टिंग संस्था ऑल इंडिया रेडियो ने फिल्म संगीत बजाना बंद कर दिया था तो एशिया के करोड़ों लोग रेडियो सिलोन सुनने लगे थे मगर घर बाहर किए हुए सुरीले मनोरंजन को ऑल इंडिया रेडियो में वापस लाने के लिए 3 अक्टूबर उन्नीस सौ 1957 के दिन ऑल इंडिया रेडियो की मनोरंजन सेवा विविध भारती शुरू हुई इस शानदार गीत से नाच रे मयूरा नाच रे मयूरा खोल कर कह सुनयन देख सघन गगन मगन देख कर स्वप्न जो के आज हुआ पूरा नाथ रे मयूरा नाथ रे मयूरा नहीं नहीं भाई ये कोई फिल्मी गीत नहीं था खास विविध भारती के जन्म की धूम मचाने के लिए इस गीत को लिखा था मशहूर गीतकार और विविध भारती के जन्मदाता पंडित नरेंद्र शर्मा ने धुन बनाई थी अनिल विश्वास ने और गाना गाया था मन्ना डे ने तो बहन और भाइयों विविध भारती के प्रोग्राम शुरू तो हुए मगर उनमें विज्ञापन यानी कमर्शियल्स सिर्फ 1967 में शुरू हुए और कमर्शियल रेडियो की जान यानी स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम शुरू हुए 1970 1970 में और तब तक पॉपुलर रेडियो की दुनिया में रेडियो सिलोन ही का राज रहा और रेडियो सिलोन के प्रोग्रामों में नंबर वन पर ही रहा आपका ये गीतमाला प्रोग्राम जिसमें उन्नीस की वार्षिक पायदान नंबर 15 पर आया हावड़ा ब्रिज का ये गाना एक चुपकी पान का एक एक चुपकी पान का एक कहीं होकर कहीं सकता है सुनो जी कलकत्ता है पान का इक्का कहीं जोकर कहीं है सुनो जिए कलकत्ता है अब ये भी बड़े अचंभे की बात थी मनोर भाइयों के हावड़ा ब्रिज का एक गाना जो मेरा ख्याल है बेहद पॉपुलर हुआ और बरसों तक चलता रहा वो कैसे नहीं पहुंच पाया सालाना प्रोग्राम की सभी सीढ़ी तक और हमें उसे छाओ के गीतों में बजाना पड़ रहा है मेरा नाम चिंचिंचू चिंचिंचू नाम के डायरेक्टर थे शक्ति सामंत जिन्होंने हमें आगे चलकर आराधना अमर प्रेम और कटी पतंग वगैरह जैसी कई बेमिसाल खूबसूरत फिल्में दी तो फिर हावड़ा ब्रिज जैसी तड़क भड़क वाली और हड़बोंगी फिल्म उन्होंने क्यों बनाई थी इसका जवाब एक बार मुझे खुद शक्तिदा ने दिया था सुनिए हमने उस वक्त एक नया एक्सपेरिमेंट किया जिसमें इमोशन के साथ साथ हमने मारधार भी रखा और वो सब फिल्में कामयाब हुई हम लोग इस फिल्म इंडस्ट्री में शुरू शुरू में कोशिश करते हैं कि ऐसी फिल्में बनाएं जो कम से कम कामयाब हो ताकि हम अपने आप को स्टैब्लिश कर सकें और इन तीनों फिल्मों की वजह से मैं अपने आप को स्टैब्लिश कर सका और मैंने अपना खुद का प्रोडक्शन चालू किया मगर वो म्यूजिक इतना हिट हुआ कि आज तक लोग उसे याद करते हैं और भाई उस मनोरंजन के जमाने की एक और धूमधाम वाली फिल्म तुम सा नहीं देखा का गीत नंबर चौदह पर भी पहुंच गया था गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल हो तेरा क्या कहना मगर वैरोड उसी साल एक जबरदस्त भावुक दिल और समाज को झिंझोड़ देने वाली फिल्म भी आई थी सारे गामा कारवा डिजिटल ऑडियो प्लेयर इस तोहफे में है पाँच हजार सुनहरे गाने और कुछ यादें मदर इंडिया जो इंटरनेशनल फिल्मी दुनिया में भी बहुत मशहूर हुई साहब मदर इंडिया का यादगार रोल नरगिस ने किया था और क्या रोल था वो साहब हिंदुस्तान में भी और विदेश में भी उस रोल के लिए नरगिस ने बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता नगरी नगरी गारे गारे साल नंबर तेरह पर था और आपको याद ही होगा कि मदर इंडिया ही वो फिल्म थी जिसमें नरकिस और सुनील दत्त पहली बार मिले और फिर बस साल डेढ़ साल में पति पत्नी भी बन गए अब ये और बात है कि फिल्म मदर इंडिया में नरगिस बालों में बुढ़ापे की सफेदी का मेकअप लगाकर सुनील दत्त की अम्मा के रूप में नजर आई थी और सुनील दत्त अटखेलियां कर रहे थे कुछ और नौजवान लड़कियों के साथ खटखुट करती चमचुम करती गाड़ी हमारी जाए पर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए ओ गाड़ी वाले नजर ना लागे गोरी का है मुकड़ा खोले एक नजर ना लागे रे गोरी का है मुकड़ा खोले ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए वन मामिलो थे अपिया वन मामिलो थे अधि कोन पुत न खर खर कापर खड़ख लाॻे छॾियां रामा घर कंदा अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया तो अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतिया ओ सुने सब लोग कटे नाच रे हो करती चमचम करती गाड़ी हमरी जाए घर पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए अच्छा बहनों भाइयों अब यहाँ मैं आपको सुनील दत्त की अपनी आवाज सुनवाना चाहता हूँ ये इंटरव्यू मदर इंडिया के करीब 26-27 साल के बाद रिकॉर्ड हुआ था जब नरगिस जी का देहांत हुए कुछ अरसा बीत चुका था और उनके बच्चे भी काफी जवान हो चुके थे उस इंटरव्यू में मैंने सुनील दत्त से पूछा था कि भाई ये बताइए कि आपने नरगिस जी से शादी की ये तो आप दोनों ही के लिए बड़ी ही अच्छी बात थी हाँ कुछ लोगों को ये दुख जरूर है कि आपने नरगिस से शादी करके उनका शानदार फिल्म करियर बंद करवा दिया था मैंने कभी उनसे ये नहीं कहा था कि आप फिल्मों में काम मत कीजिए और ना ही हमने कोई इस तरह की कंडीशन लगाई थी कि हम शादी इसलिए करेंगे कि आप फिल्मों में काम मत करें और उनको मैंने जाना बतौर एक इंसान के मदर इंडिया में और हम जब हमारी शादी हुई तो उनका खुद कहना था कि शादी का मतलब यह है कि मैं एक अपना डिवोट करूं टाइम अपने घर में और अपने घर को बनाऊं अपने घर को संवारूं ये मेरी ड्रीम है और इसलिए जब हमारे बच्चे भी हुए उनके लिए सारा टाइम मुझे तो पता भी नहीं होता था मैं तो एक समझ लीजिए कि एक सोल्जर की तरह कभी यहां शूटिंग कर रहा हूँ कभी यहां शूटिंग कर रहा हूँ और आप यकीन जानिएगा कि मुझे मालूम भी नहीं होता था कि मेरे बच्चों के एग्जाम कब हैं मुझे मालूम भी नहीं होता था कि मेरे बच्चे बीमार हैं आज उनको डॉक्टर के पास ले जाना है गुस्सा वो करती थी मुझे इस चीज का कोई इलम नहीं था और उसके बावजूद भी जो सोशल कमिटमेंट उनकी थी मेरा ख्याल है उसकी वजह से उनको कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं मैं कुछ कर नहीं रही हूँ खैर साहब चलिए अब हम लौट आते हैं उसी उन्नीस के साल में और फिर जा मिलते हैं मदर इंडिया से जो उस साल गीतमाला की सालाना पायदान नंबर 12 पर भी थी मगर फिर बड़े दुखी मूड में दुनिया में हमारे सितारे थे वो जो बुझ गए अब तो बस उनकी यादों के उजाले ही बाकी हैं हमारे दिलों को सहलाने के लिए और वही सुहानी सुरीली यादें अब आपके पास फिर लाने लगी है गीतमाला की ये छाओ देखिए कौन सा गजब का गीत अब आ रहा है आपसे मिलने के लिए लाने को तो अभी बहुत कुछ है मगर तरुण भाइयों यहाँ मैं आपके सामने लाने वाला हूँ गीतमाला के श्रोता संघों के बारे में एक खत गीतमाला के एक बहुत पुराने साथी अजय पाल सिंह जो रहते हैं अलीगढ़ में और कई वर्षों से मेरे बड़े भैया के नाम से हम ये रसायनी रेडियो क्लब चलाते रहे हैं वो लिखते हैं अमीन भाई आपने गीतमाला की छाव में के एक वॉल्यूम में वादा किया था कि आप कुछ उन श्रोता संघों के नाम भी सुनाएंगे जो बरसों तक गीतमाला के हफ्तावार क्रमों को चुनने में आपकी मदद करते रहे थे तो वो वादा कब पूरा होगा भाई अजय भाल चलो एक रेडियो क्लब का नाम तो मैंने आज ही ले लिया अब कुछ औरों के नाम लेने की कोशिश करूंगा अच्छा साहब आप कुछ और खत सुनेंगे आप रुक हम्म? जा प्यारे रुक जा ठीक है आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम आस लगाए बैठे हैं राहों में कब से हम ओ जरा रुक जा प्यारे रुक जा फिल्म सितारों से आगे के गीत की इस झलक ने मेरी बोलती बंद कर दी थी एक मिनट के लिए बहनों भाइयों ये गीत उन्नीस में नंबर 11 पर था नंबर तो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं उन्नीस के गीत नंबर 10 की झलक ये वो गीत है जो लगता है कोई हैंडसम हीरो गा रहा हो गीत माने की छाव में सुनने वाली प्यारी प्यारी लड़कियों को देखकर जो तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा तुम सा नहीं देखा यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा और तुम सा नहीं देखा उप ये नजर उप ये अदा उप ये नजर उप ये अदा कौन न अब होगा फिदा जुल्फ है या पतलियाँ आके हैं या बिजलियाँ जाने किस किस की आएगी कजा यू तो हमने लाख हसी देखे हैं तुम सा नहीं देखा अच्छा बहनों भाइयों इस फिल्म में शम्मी कपूर जिससे कह रहे थे ना कि तुम सा नहीं देखा वो वो लड़की कौन थी आपको याद है कई वर्षों से तो वो <laughs> नजर ही नहीं आ रही है मगर साहब वो लड़की थी बहुत गजब की और नाम था उसका अमीता और ये प्यारी चुलबुली हसीन जहीन अमीता फिल्मों में आई कैसे आप उसी से सुनना चाहेंगे काम का जहाँ तक सवाल था इरादा तो नहीं था लेकिन खेलते खेलते कह सकते हैं आप मैंने काम शुरू कर दिया अच्छा वो कौन सा खेल था जिसकी वजह से आ गई हैं <laughs> क्या था अमीन साहब हम्म। मैं मधुबाला की बहुत बड़ी फैन रही हूँ अच्छा अच्छा हाँ मैं जब स्कूल में पढ़ा करती थी हम्म। तो मधुबाला की फिल्में देखने के लिए मैं जिसे कहते हैं ना I use to bunk school अच्छा हाँ और उनकी फिल्में देख देख के जैसे मसलन बादल है खजाना है हम्म। और कई पिक्चरें थी तो हम वापस आके ना स्कूल के बाद हम्म। खेला करते थे मैं ही प्रेमनाथ भी बन जाती थी मधुबाला भी बन जाती थी <laughs> और हीरालाल भी बन जाती थी अच्छा अच्छा, अच्छा। तो इत्तेफाक से अपने लेखराज भाकड़ी हम्म, हम्म। आपने उनका नाम सुना होगा वो वहाँ आए ऊपर हमारे रहते थे मेरे नेबर्स को मिलने के लिए आए तो उन्होंने देखा कि एक लड़की स्कूल के यूनिफॉर्म में डायलॉग बोलती चली जा रही है कभी आ, हीरो के डायलॉग बोलती है कभी हीरोइन के हम्म। उन्होंने मुझे देखा और कहा कि देवी तुम फिल्म में काम करोगी हम्म। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करूंगी अच्छा तो कहने अच्छा आ, तुम्हारी मम्मी कहाँ है हम्म। मैंने कहा अंदर है मैं भागी भागी मम्मा के पास गई और उसके बाद एज यूजल नहीं नहीं करोगी पढ़ोगी ये है वो है बहुत ड्रामाबाजी हुई and eventually I did get to work Behror भाइयों हम और आप गीतमाला की छाओ में झूम रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं मगर दिल में ये एहसास भी है कि दुनिया काफी अरसे से बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है बढ़ती हुई कीमतें घटती हुई इंसानियत लूटमार भेदभाव धोखाधड़ी दुर्घटनाएं आतंक इन सब का मुकाबला हमें सब मिलकर करते रहना है और हम जरूर करेंगे मगर क्या करें दुनिया की बिगड़ी हुई हालत देखते हुए आंसू तो भाई निकल ही जाते हैं ना